कोई कब्जा ना कर दे वो परमात्मा जो वो हो ये वेद जो है वो हो साम वेद जो वो हो गरुड़ है इसलिए संकेत करने के लिए शास्त्र में कह दिया गया कि जब गरुड़ उड़ते हैं तो उनके संखों से शाम वेद की ध्वनि उत्पन्न होती है ये क्यों कह दिया गया जिससे कि थोड़ी कम अकल के बुद्ध जो है वो थोड़ा थोड़ा समझ गए कि गरुड़ के पंखों से गरुड़ का संबंध सामवेद से बुद्धि धीरे धीरे सामवेद की तरफ चली जाए ये सामवेद जो वो है जो संगीतात्मक परमात्मा ज्ञान है ये व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचाने वाला है और परमात्मा उसी पर बैठ करके व्यक्तियों के हृदय में आता है इसलिए इस गरुड़ को पक्षी में समझे गरुड़ का रूप कुछ और ही है वास्तविक रूप कुछ और ही है सूक्ष्म है इसलिए जल्दी उसका जो है वर्णन नहीं किया जा सकता उसको धीरे धीरे करके चित्र में धारण करते करते समझते समझते उसको समझे बहन ये खग हरि सहतानन और साधन वाले जिसके जो हजार खन है वो जो है वो क्या एक सर्प है मनुष्य नाग एक सर्प तो आप समझो कि चित्र अगर आप देखो एक हजार खंड वाला एक सर्प है और सर्प के खंड के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है तो आपको समझो दिमाग में यही बैठ जाए कि शेष नाग एक सर्प होता है उसी के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है हाँ? और कहोगे देखो कैसे पुराने जमाने में कैसे लोग बाग ना समझ के बिचारे वो नहीं जानते थे कि पृथ्वी कहाँ रखती हुई है पृथ्वी तो आकाश में कभी हुई इसी प्रकार हुई किसी चीज के पर रखेंगे थोड़ी लेकिन पुराने जमाने में इतने लोग ज्ञानी थे जो समझते थे शेषनाग है उसके थन के ऊपर पृथ्वी बनी हुई है और हम तो वैज्ञानिक लोग कितने ज्ञानवान हो गए जो हमने पता लगा लिया पृथ्वी गोल है और वो किसी किसी के खनन के ऊपर कहीं रखती है चार सौ पत्थर लगा लिए न खन पर रखती है न कसूर पर रखी हुई है तो ये समझे लोगों की बुद्धि जड़ बुद्धि उन्हीं अंत जैसे समाज जैसे कहते समस्त जितनी सृष्टि है ये सृष्टि व्यक्ति को लगता है कि जैसे है तो सारी सृष्टि अस्तित्व मान लगती है अगर हमें परमात्मा तक पहुंचना है तो सृष्टि का पहले निषेध करना पड़ेगा कि मानव सृष्टि जितनी है नाम रूपात्मा जितना जगत है वो परमात्मा नहीं है अगर मैंने हमने अपने माइंड से सारी सृष्टि नाम रूपात्मक सृष्टि को एलिमिनेट कर दिया इस पर हटा दिया तो शून्य में चली गई सारी सृष्टि अब क्या बचा तो आप कहोगे अब कुछ नहीं बचा जो कुछ नहीं है ये शेष है जब जगत नहीं होगा तो जो कुछ बचेगा वो शेष अब शेष क्या बचा मैंने शून्य बचा इस शून्य के ऊपर सारी सृष्टि बचती है समस्त सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से होती है और शून्य पर ही सारी सृष्टि आश्रित है लेकिन शून्य स्वयं जो वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्वमान नहीं है वो आश्रित है परमात्मा पर बिना चेतना के बिना परमात्मा के आप ये भी नहीं कह सकते कि अब कुछ नहीं बचा जैसे आपसे कहेंगे अब सृष्टि नहीं रही तो क्या हुआ कि अब कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा आपने कैसे कह दिया हम जानते हैं और क्या होगा कुछ नहीं बचा आप क्या कह सकते हो बिना कुछ नहीं बचा सब कुछ नहीं बचा कर जाता वो भी नहीं बचा हाँ हाँ ज्ञाता तो बचा जो ज्ञाता है वो चेतन है कि जड़ वो चेतन है उस चेतना के ऊपर शून्य आश्रित है बिना चेतना के शून्य का बोध नहीं और शून्य से ही सारे नाम रूपात्मक जगत का विस्तार है इसलिए ये सृष्टि शून्य पर आश्रित है इसलिए शेष शून्य अब बात रहेगी कि शून्य जो भावात्मक है क्या भावात्मक है आप अपनी गलत में देखिए कि शून्य भावात्मक है कि अभावात्मक है मैंने शून्य की एग्जिस्टेंस है या नहीं है अब किसी गणतज्ञ से पूछना पड़ेगा कि बताओ भाई कि शून्य की एग्जिस्टेंस है या नहीं है एक जिससे कहोगे तो कहोगे शून्य के मैंने कुछ नहीं एग्जिस्टेंस उसके ही है और दूसरी तरफ आप ये कहोगे कि शून्य की एग्जिस्टेंस ऐसी है कि एक का दस गुना हो जाता है और दस गुना का सौ गुना हो जाता है सौ गुना का हजार गुना हो जाता है वो मल्टीप्लाई कर देता है इतना ज्यादा बढ़ा देता है तो शून्य की देखो विस्तार करने की शक्ति जितनी वो एक तो ही परमात्मा <clears throat> हजारों प्रकार के सृष्टि कितने तारामंडल कितने बन गए कितने पृथ्वी बन गई कितने सूर्य बन गए वो एक परमात्मा ने इतने रूप धारण कर लिए कैसे हो गए वो शून्य ने मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए ये भी देखो ये कहते हैं कि सर्प क्या है जिसे आप केवल एक सर्व समाप्त समझने वाले हो कीड़ा सर्प इस तरह का विशेषणा ऐसा नहीं है शेष के माने क्या आप दस में से पांच गए शेष क्या बचा पांच बचे फिर तो शेष क्यों कहते हैं पांच बचे हाँ? इसीलिए उस नाकामी नाम शेष है अब इस प्रकार से ये देखो ऐसी कठिन बातों को जो भावात्मक बातें हैं उनको ऋषियों ने इस प्रकार से मूर्तिमान रूप दे करके प्रारंभ में व्यक्तियों के जो स्थूल बुद्धि के व्यक्ति हैं धर्म के व्यक्ति हैं उनको भी थोड़ा और उसको समझा दिया उन बातों को भी कुछ न कुछ उस तरफ उनके बुद्धि में बैठा दिया अब आगे की बात रहेगी जब पढ़े हों तब उनको पूछना चाहिए कि आखिर पृथ्वी तो हमने पढ़ी ये तो गोल गोल पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर काट रही है ये तो किसी वस्तु पर रखी नहीं है लेकिन इसके साथ क्यों बनाते हैं इनकी पर पृथ्वी रखी है उसे पूछना चाहिए अपने मन में भी कहते तो गलत तरफ किताबों में लिखा हुआ है ये समझी की बात है माने उन ऋषियों की बुद्धि से जिसने अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समझ लिया ऐसा नहीं है उसे श्रद्धा रखनी चाहिए और पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों शास्त्रों में उनका समाधान सब मिलेगा और ये बातें तभी इसलिए गई है जिससे कि व्यक्तियों में आगे पीछे जिज्ञासा हो ऐसे कही तो गई जिज्ञासा होना स्वस्थ बुद्धि का लक्षण है कि बुद्धि का विकास हुआ है उसमें जिज्ञासा होगी अगर बुद्धि का विकास नहीं होगा तो सब का कल्प माने रहेगा कल्प वृक्ष को कल्प वृक्ष पेड़ माने रहेगा गौ कोई पक्षी माने रहेगा ये बुद्धि का विकास छोटे बच्चों से अगर कहो कि एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था एक लोमड़ी उसके पास आई लोमड़ी ने देखा कि कौवा मुंह में टुकड़ा लिए हुए है रोटी का तो कैसे जिसका टुकड़ा रोटी का कैसे लिया जाए तब लोमड़ी ने कौए की बड़ी तारीफ की तो आप सब अच्छा गाना गाते हैं सारे संसार में आपका गाना पसंद है तो बच्चा ये नहीं कहेगा कि लोमड़ी को ऐसा नहीं भूल सकती हम्म? नहीं कहेगा मुझे तो अच्छा लोमड़ी ने ऐसे कहा हाँ ऐसे कहा तो फिर कौए ने क्या किया तो वह गाना गाने लगा तो कौआ गाना गाने लगा हाँ कौआ गाने गाने लगा तो बच्चा कहते हैं हाँ, कौवा गाना गाने लगा और जब गाने गाने लगा उसने अपनी चोट खोली तो रोटी को टुकड़ा नीचे गिर गया गिर गया कि हाँ गिर गया बच्चा मान लेगा क्या गिर गया और जैसे गिरा नीचे तो नोमी ने क्या किया रोटी को टुकड़ा मुंह में दाबा भाग गई भाग गई क्या माने तो उसका कौए का रोटी का टुकड़ा तो इस प्रकार से नोमी धन ले गई यहाँ धन ले अब वो बच्चा ये नहीं कहेगा कि कौआ गा नहीं सकता कि लोमड़ी कह नहीं सकती ये तो नहीं बोलेगा लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा हा? तब वो समझिएगा कि डोरनी इस प्रकार बोलती नहीं है तो वह इस प्रकार से जाता नहीं है इस कहानी के द्वारा हाँ, एक बात ये समझाई गई कि झूठी तारीफ सुन करके स्कूल मत बैठो और ठगाई मत दे दो ये इसका तात्पर्य इसका तात्पर्य नहीं कि रोमड़ी बोलती नहीं बोलती इस कहानी का केवल तात्पर्य है कि झूठी तारीफ सुन करके ठग मत जाओ समझ जाके बड़े होना इसी प्रकार से अपने शास्त्रों को फेवरेट की तरह से भी काम पाते हैं जो अल्प बुद्धि के ज्ञानी लोग जो है जो कि नासमझ बिल्कुल हैं नहीं समझ सकते उनको भी बात बता दीजिए इस प्रकार लेकिन उन्हीं में से जो लोग बड़े होकर के बुद्धि का जिनका विकास होगा वो प्रश्न करेंगे जिज्ञासा उत्पन्न होगी समझ लेंगे तात्पर्य इसका क्या है भावात्मक बातों को समझने की तो सूक्ष्म बुद्धि नहीं होगी तब तक ये बातें समझ नहीं आएंगी ये अपने शास्त्रों में सब लोगों को छूट है कि जो लोगों की बात नहीं समझ में आती है तो वो जिज्ञासा करें ये नहीं करते जिज्ञासा मत करो ये मत कहो कि गरुड़ एक पक्षी नहीं हो सकता है ये मत कहो कि शेषनाथ के ऊपर पृथ्वी रखी नहीं हो सकती है बिल्कुल गलत बोलते हो बल्कि ये कहना चाहिए कि ये हमें समझाइए कि शेषनाथ पर पृथ्वी कैसे रखती है ये जिज्ञासा है जो जिज्ञासा करेगा उसे उत्तर मिलेगा और जो निंदा करेगा इसकी खंडन करेगा तो बस खंडनी खंडनी तो उसे उसे अभिमान उसका बढ़ेगा कि मैंने देखो इस बात का खंडन कर दिया और उसका अभिमान बढ़ेगा हाथ कुछ नहीं लगेगा इसलिए इस प्रकार से कहते हैं अभी सैतानन और चिंतामणि पुनः उपलब्ध सानन फिर कहते हैं कि देखो कि चिंतामन भेद रसानन क्या चिंतामन भी कोई पत्थर है जैसे मणिया पत्थर होती है हीरा हाँ, पुखराज इत्यादि सब क्या होता है तरह तरह के पत्थर हैं कोई पीला कोई नीला कोई हरा सफेद इस तरह तरह के रंग बिरंगे पत्थर है चमकदार पत्थर है कोई कोई ऐसे पत्थर लिए जो अधेरे में भी चमकते हैं हम्म, तो मणि कहलाते <clears throat> ऐसे क्या चिंतामण भी कोई मणि है मणि के तो मन कोई पत्थर है मणि उसका नाम है लेकिन ये मणि पत्थर नहीं है राम भगति चिंतामणि सुंदर आगे पता ना जाए चिंतामण क्या है ये चिंतामण भगवान की भक्ति चिंतामण की महिमा क्या है कि चिंतामण से जो मांगे उसे प्राप्त होता है भगवान की भक्ति प्राप्त होगी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी शेष नहीं रहेगा प्राप्त करने के लिए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा इसलिए चिंता मन सुन मंद लोक वैकुंठा और रावण से कहते रे मतिमंद मतिमंद के माने जो मतिमंद है वही समझे कार्य वैकुंठ लोक भी है तो कहेंगे हाँ जैसे ये पृथ्वी भी है जैसे यहाँ बैठी करके कहीं और स्थान होगा कोई और पृथ्वी कहीं पर होगी वो वैकुंठ कहलाती होगी तो जिसका नाम पृथ्वी है तो उसका नाम वैकुंठ होगा तो कभी मतमंद लोगों का है कहना वैकुंठ कोई कोई लोक नहीं है कोई स्थान विशेष नहीं है वैकुंठ के माने जहाँ पहुंच करके जीव को वापस नहीं आना पड़ता वो परमात्मा परमात्मा स्वयं वैकुंठ है परमात्मा ही वैकुंठ है परमात्मा ही नारायण है और वैकुंठ धाम में बात करने वाले सब नारायण स्वरूप परमात्मा स्वरूप ही है इसलिए वैकुंठ कोई धाम नहीं है बिना धाम का धाम है बिना लोक का लोक है इसलिए अलोका लोक कहते हैं अलोका लोक इसमें जो, जो लोक नहीं है और फिर भी लोक की तरह से कहा जाता है इसलिए उसको जो है वैकुंठ को एक धाम है वैकुंठ शब्द का अर्थ ये है कुंठे होकर मैंने गिरना और वैकुंठ मैंने जहाँ से तू तो वापस गिरेगी लौट करके जहाँ से ना जितने भी लोग हैं वो लोग कैसे हैं आप्रम ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तन अर्जुन हे अर्जुन ब्रह्म लोक तक के जितने भी लोग हैं वहाँ प्राणी जाते हैं लौट लौट करके आते हैं लेकिन बैकुंठ लोग ऐसा है वहाँ जाने के बाद फिर लौटते नहीं है पुनरावृत्ति वो भगवान का अपना धाम है तो उसको धाम के माने कोई स्थान विशेष नहीं समझना चाहिए उसको लोक को लोक नहीं समझना चाहिए परमात्मा लोकातीत है परमात्मा देश काल से अतीत है बस वहाँ जो परमात्मा को प्राप्त हो गया वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया तो सुनमति कुंठा लाभ की रघुपत भगत अकुंठा और लाभ दुनिया के एक से एक है लेकिन अगर किसी को भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए तो ये भी बड़ा लाभ हो गया चलो दुनिया भर के बहुत से लाभ हमको प्राप्त हुए धन संपत्त परिवार क्या सब हो गई पदवी प्राप्त हो गए सब भी प्राप्त हो गए बहुत लाभ हुए और चलो आश्रम में एक लाभ हमें ये भी हो गया कि भगवान की भक्ति मिल गई तो भगवान की भक्ति कोई लाभ नहीं है लाभ क्यों नहीं है कि लाभ उस वस्तु का होता है जो हमें प्राप्त नहीं है हमसे भिन्न है वो वस्तु हमें मिल जाती है तब उसका लाभ कहलाता है लब्ध से लाभ है लब्ध के माने प्राप्त होना जो अलब्ध है अप्राप्त है उसको प्राप्त करना प्राप्ति कहलाएगी लब्ध कहलाएगी लाभ कहलाएगा लेकिन जो वस्तु हमारा अपना स्वरूप है हमारे ही अपने अंदर है हमसे भिन्न हो ही नहीं सकता हमसे पृथक हो ही नहीं सकता उसकी यदि प्राप्त होती है तो वो कोई लाभ नहीं तो कितने अध्यात्म शास्त्र में कितनी बातें हैं एक साथ यहाँ इकट्ठी आ गई जिनको भी सावधानी पूर्वक समझे तो अपने शास्त्रों को समझने के लिए दृष्टि मिल जाए समझने का एक मार्ग मिल जाए व्यक्ति को तो लाभ की रघुपति भगत या कुंठा अकुंठा माने भगवान की वो भक्ति जो अनपायनी भक्ति कहलाती है जिसको प्राप्त होने के बाद भी फिर कभी नष्ट नहीं होती तो इसको प्राप्त प्राप्त भक्त को भी प्राप्ति मानते हैं लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं होती ये अपने हृदय में ही परमात्मा की अनुभूति है और परमात्मा को जो आनंद है वो परमात्मा से तादात्म करके जो परमात्मा का आनंद का अनुभव होता है उसका नाम अनपायनी भक्ति है इसलिए वो कोई लाभ जैसी वस्तु नहीं है और सेन सहित तब मान मत पन उदार पुरजार अब फिर हनुमान जी के लिए कहते हैं अंगद कहते सेन सहित तब मान मत तुम्हारी इतनी सेना को जो आकर के तुम्हारी सेने के अभिमान को मत दिया मन तुम्हारी सेना को मार दिया कितने लोग मारे गए तुम्हारे सैनिक लोग और पन उजार और तुम्हारा पन जो अशोक बन जिसको उजाड़ गया हनुमान और पुरजार और तुम बैठे रहे तुम्हारे नगर में आग लगा गया और जो सब सुख मारी और तुम्हारे पुत्र को भी अक्षय कुमार को भी मार दिया और तुम उसका कोई बात बाका नहीं कर पाए और तुमसे वापस चला भी गया और तुम बैठे बैठे यहाँ कहो तो वो एक बानर था जो तुम्हारी बुद्धि के ऊपर पत्थर पड़ा वो बानर ऐसा कर सकता है कभी देखा ऐसा पर आज तक वो बानर नहीं है तो जैसे कसरे सत हनुमान कपी तो बताओ उस हनुमान को तुम मानते कैसे समझते हो अब कोई कहे कि लोग हिंदू लोग तो बंदर की पूजा करते हाँ, बंदर की पूजा नहीं करते वो समझने वाले जो नहीं समझते वही समझते हैं बंदर की पूजा करते तो बंदर ऐसा कार्य कर सकता है कि लंकावाद लगाया आवे और रावण के पुत्र को मारे आवे और अशोक वाटिका को उजाड़े आवे और इसकी सेना को मारे आवे बंदर कर सकता है बदला नहीं कर सकता फिर कौन है ये कुछ और ही ये हनुमान जी क्या है शंकर जी का अवतार है तो कहा तो बस चलो भाई हम पद्धर सही एक मनुष्य सही जिसका के नाम शिव है या शंकर है ऐसा कोई मनुष्य होगा और क्या न सही बंदर तो कोई शंकर जी कोई कोई मनुष्य है कोई मानवाकारा तो आकृति की दिखाई देता शंकर जी को मन मान लो रामचंद्र मानस के अनुसार कम से कम देखो कि परमात्मा में जो विश्वास है उसका नाम शंकर है विश्वास परमात्मा का विश्वास दुनिया में तमाम की बातों का तो विश्वास है विश्वास अपने माता पिता का विश्वास अपने पुत्रों का विश्वास अपने धन पर विश्वास अपने पद पर विश्वास अपने मित्रों पर लेकिन इस विश्वास की बात नहीं कहते विश्वास अगर परमात्मा का हो तो परमात्मा के विश्वास को क्या कहेंगे वो शिव है कल्याणकारी है संकरोध संकरा ये सारे तुम्हारे दोषों को सारी हमारी विपत्तियों का हरण करने वाला है सब प्रकार से कल्याण करने वाला है वो परमात्मा का जो विश्वास है वो शिव है और वही शिव ही हनुमान है हनुमान की बानर नहीं आकृति कुछ भी बना लो पति हृदय मदीये सत्यम वदामी तो भवान सिनातरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुकुंजव निर्धरा मे कामादिदोषरहित कुरु मानसंत श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम